चाहिए ही तभी वो जीवित रह सकते हैं उसके बिना वो जीवित हाँ, नहीं रह सकते तो ऐसे करके हमको जब ये समस्या चूँकि इस रूप के अंदर आई तो फोकलोर के अंदर काम करने के अंदर हमको तब जिस तरह के एक समस्या से दूसरी समस्या दूसरी समस्या तीसरी समस्या जिस तरह से जुड़ी हुई चली जाती है वो किस एक छोटी सी कथा और है कि एक बार एक बाम्बी जो चमार है जैसे तो वो गांव के अंदर खड़ा था और ठाकुर गांव का जो ठाकुर था वो आया और उसको खूब गालियाँ दी और उसको खूब डांटा फटका सब कुछ किया और 20-25 आदमी आसपास भी खड़े थे वो भी सुन रहे थे सारी बात को तो ठाकुर डांट डूट के चला गया तब जो दूसरे लोग जो खड़े थे उन्होंने कहा जमात से भाभी से कहा कह रहे भाई ठाकुर साहब जितनी बात कहते थे सब तो गलत कर रहे थे सब झूठ बोल रहे थे तुझे बेकार गालियाँ दी तुझे बेकार कोई गलती नहीं थी और तू कुछ बोला ही नहीं तो उसने कहा कि भाई वो ठाकुर साहब जब मुझे गाली दे रहे थे जब मेरे होठ तो हिल रहे थे कि नहीं हिल रहे थे हाँ। तो कहा हाँ ये बात तो है तेरे होठ तो हिल तो रहे थे हाँ। तो मैं कौन सा उनको गाली नहीं दे रहा था मैं कौन सा राम नाम ले रहा था नहीं गालियाँ दे रहा था अर्थ ये हुआ कि वो गाली दे तो सकता है लेकिन होठ के बाहर नहीं निकाल सकता है तो हमको मतलब जो फिर जिस समाज के अंदर हम बैठे हैं उस समाज के अंदर इस तरह की चीज़ों को निरंतर जब ऐसी कथाएं आती हैं अब ये कैंप इस कैंप का इतिहास क्या है मतलब सी सी आर टी करता है हम लोग बुलाते हैं ये लोग आ जाते हैं सब कुछ है मैं इन लोगों पहले तो बड़े लोगों के साथ ही काम करता रहा था कि भाई गाना बजाना ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग वगैरह ये करते थे तो मैं देखा आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि जो इससे बड़े समुदाय को साथ में ला सके उसी दौरान के अंदर ये दिमाग जब चल रही थी तब एक लोक कथाएं भी हम इकट्ठी करते हैं जैसे आपको मैं बता रहा था तो एक कथा किसी ने सुनाई एक अंधी बुढ़िया औरत थी और शिव जी की बड़ी भक्त थी तो शिव जी की बहुत ज़बरदस्त उसने आराधना करी शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए आए और उस बुढ़िया से कहा कि हे बुढ़िया तू एक वरदान मांग सकती है एक वरदान मैं तुझे देता हूँ बुढ़िया थी उसके पुत्र था और उसके कोई पोता पोती नहीं था अब उसको एक वरदान मांगना कोई भी मांगे तो उसने शिव जी से कहा कि वह शिव जी मुझे एक ऐसा वरदान दो कि जिससे मैं अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखूं हम्म। अपने पोते को अर्थात उसके पुत्र के पुत्र हो और वो सोने की थाली में खाना खाए जो धन है तो मेरे पास पुत्र हो जाए धन हो जाए वो एक ही वरदान के अंदर उसने मांगा ये कहानी जब सुनी वो कारण था कि मैंने बच्चों के ऊपर काम करना शुरू किया बच्चे अपने ढंग से सीख रहे हैं और ये सिखाने वाले हैं तो मेरे तो पोता और धन दोनों आया इसमें हाँ। इसमें लेकिन वो कहानी जब तक वो स्ट्राइक कर गई क्योंकि उसी दौरान मैं सुन रहा था उसी दौरान में ये कहानी आई तो मैंने कहा अगर बच्चों पे मैं काम करूँगा तो वो काम मुझे केवल बच्चों को ही नहीं बच्चों के साथ मैं इनके बिना मैं बच्चों का क्या करूँगा तो मैं दोनों को जोड़ सकता हूँ इस कहानी का संकेत मतलब इस का, ये कहानी मिली बस उसी दिन मैं सुनी और मैं बेदान से जा काम का बस मेरी समस्या का तो हल हो गया ये देखिए कहानी में मतलब तो इस तरीके और अपना बच्चों के ऊपर इस तरह से काम करेंगे तो किस तरह से मतलब ये कथाएँ आपके संकेत देती हैं अलग अलग प्रकार से इस तरीके से अब आज आज का अपन समाप्त कर लें यहाँ पर नहीं मजूरा माथे हुक्म अलावा हाथ में शोट मैं तो भाई राज का कहीं जो बैठा ठोका रोट <laughs> पापी बची साकार फिर माता बोली मार मार में इंदिरा गांधी जलसी भेजे भेजे नकली नोट गरीबों ना तो देहे नहीं सौ बजावा शोट हिंदुस्तान में सड़कें खोली नए सिकेरा नोट भिनी सुखी बोरली दिठी महीना दिठा बोर पच्चीस शेरे कान महीना मरता दिठा ढोर तो विचार बात भली दिन पादरा पेंडे पाकिज बौर घर मिंडल घोड़ा जीणे लाडू मारे चोरम तो इतना समाज जोगरे माहले कानी दिल्ली शहर मायने मोतीलाल ठग रहता हा वारे एक बापरो नाम हो बुकन ठग बेटर नाम हो मोतीलाल तो करता करता करता करता नौकरों ठगाई करता करता बूढ़ा होगा बेटे ने कभी ठेगाई हिका ही नहीं पर हरामेश में कन्या हो तो जरूर हो देख तो जरूर हो बिन टेम में बुकन ठग गए हे मोतीलाल तू है काम सीखे नहीं आपने पराम परी रहो तो तू भूखा मर जाई के पिताजी आपने शंका में तो आज आप हाथे हालू हुई चोरी करणु ही कूद करी तो बेटा जरा हाथ न्याल कर दे मारे हाथ हाले तो तो दोनों वाह बेटो रमन ये दिल्ली शहर में जावे धर पूजा धर्मजला धर पूजा धर्मजला बहवे है एक गिनकर मकान आयो है बिन जगह जाए और कहे है बिन जगह जाए कहे है के बेटो एक ही है इन ज्यादा कह नहीं सकूं कह सुस बिन सुनी रहे न ज्ञान बिन हृदय सुनो कुल सुनो बिन पुत्र पात बिन तरवर सुनो गज सुनो बिन दंत लहर बिन सागर सुनो घटाद सुनी दामनी बेताल कह सुन ब्रिकमा घर सुनो बिन कामणी सुस ने खा गई रहन ज्ञान ने खा गई हृदय कुल ने खा गयो पुत्र पात ने खा गयो तरवर गद ने खा गयो दंत लहर ने खा गयो सागर घटा ने खा गई दामनी बेताल कह सुन ब्रिकमा घर ने खा गई कामणी सुसने खोले रहन ज्ञान ने खोले हृदो कुल ने खोले पुत्र पात ने खोले त्रवर गज ने खोले दंत लहर ने खोले सागरम घटा ने खोले दामनी बेताल कह सुन विकमा घर ने खोले कामनी तो पुत्र बिना कमाऊ नहीं वे तो की कामरो कोनी बहता बहता जावे है आगे गिनकरो मकान आयो है और डोकर पग ढाबिया है मोतीलाल पूछे पिताजी अटकाई करो खे बेटा जान रख चोरी करनी नहीं जगह कह नहीं पिताजी आ આ आप नहीं करा કરા ઓ પયો આપણને કામરો કોની पेट में પેટમાં ફચેલા नहीं तो बेटा किन जगह चोरी कर बो करो धके धके तो धके धके बहवे है बहता बहता बहता बहता एक शेठ साहब रो मकान है उठे कहे बेटा इन जगह कटे नहीं ते हालो धके तो जिधर जो पहाड़ बहता बहता गो आएगी एक खड़े में प्रति जी का छाने एक बाप हूँ पकड़ गो ने और बहता डोरी लेपरे विस्मरी और खाक में गाली बाप ने ठाई नहीं आगे जब लाल किलो है बादशाह लाल किलो वीर नीचे जाए पिताजी ने कहे पिताजी मैं चोरी इन जगह करूँ अरे बेटा बाढ़ करी खेत ने बाढ़ खेत ने खाए राजा डंडे रेत ने पचे कटे फुकारा जाए और घर कूण है घर लो भून देला घड़ी में घाल पिलाए देला क्या पिताजी लाख बात कहीं वो हूँ तो चोरी इन जगह करूँ ए बेटा चोरी करी की करे तो आप देख मोकरो खाक मो काट गो और इसने डोर बांध परी पूछ रहे और पकड़ परी भी किले मत फेंके शाना ना ना ना ना ना ना ना ठो जाए कांग्रेस छिपी है छिपिया बस गो अड़ी है कि आप दस आदमी जेल लो वो पग नहीं छोड़े खनकार परी एकदम तैयार करी और वह लोरी कहीं पिताजी ने कहे पिताजी और अभी जो जीव हरिए तो पात्र मिला अरे बेटा तू है ઉપર જાવે અને પાછો ઉનાળો પહોંચ તો ઇતરા સમાજ ઓગરે માયલે કાની લાગો ઠીક એ લાગો અરે લાગો વાહ तो वो मोतीलाल ऊपर जावे है जाता ही भट्टा टिट देख पला सर ध्रंग देने मां कूदे है तो को बादशाह हुरम है पग दाबरी है और बादशाह नींद होता है इन तो जाते ही कने खानो हो खर जन वो पकड़ पर और लग घटो और हुरम जादी ने मार ना की मार परी गोड़ा न्यारा कर दिया हाथ न्यारा कर दिया मत तो न्यारो कर दियो और बादशाह ने मालिक में नहीं बीमारी नहीं सुधराई बट मैं आगे ले जा पड़ा और कपड़ा खोल फिर एक अनवेल दिया टुकड़ा और आप मैं कपड़ा पैर ले हुरमला मोतीला पैर परो और कने जा पर बादशाह दबाओ नूब गए हुरम जाती बड़ो परो पग दबावे और जोर दबावे वहाँ ने कहीं यार चार ईंटा होने री चार पाए रेटे अब चार ईंटा लेवनी लाद रहे पग दबावे दोनों पग दबावे जब वो बादशाह कहे हेलो हुरम जादी नींद नींद ले तो क्या बात है वाह फट दो वो उसके हट वो पग ऊंचो कर और वो गोडो गाल दे उमदा भी बैठे बाइट काट जे में गाल वाह बड़े पग दबावे बड़े पग दबावे दबाव दबा ओ बे जादी नींद नहीं ले रहे क्या बात है क्या हुक्म आप नींद लो जी तो ऊंचो कर पागल बात दूजोड़ी ईंट वाह दबाव है बादशाह उखाड़ देता है चुहा बात कहता है चुहा फिर हाथ आने का नहीं है वो वे क्या कर रही है जिस को दे दे बट पागल ईट काट ले बात ईटे वाह चारों ही काट पर जेल में काट लिया बड़ी आदरी सफाई लेबर बादशाह ना बादशाह बा उखाड़ देता है चुहा बात कहता है चुहा फिर हाथ आने का नहीं है अरे बादशाह ने बकर है वाह बट चारों ईटा ले परी और जा तो व पीस और जगदी जी होट कर बोले डे ठोक ठोड़ पर अंदर कर जा तो कर दियो बादशाह लाल किले में चोर बढ़ गया है बादशाह लाल किले में चोर बढ़ गया हको कर वाह बादशाह देखा कर रहा कोई कोई हका कर रहा कोई बात नहीं आप तो जान नीचो नीचे उतरी वाह बाप ने कहा राम राम बेटा कहे कि गुलम जादी ने मारिया चार घंटा लिया हमें छोड़ा कोई हाथ पीटी नहीं વાહ બહુ ઘણું કામ કર્યું તે હું તો કરી દીધું કે પિતાજી કરતો આવ્યો કચરા એમ કર મારો કાઠ માતો ઓર એને જગ ઉભો કર દે હા ગીતરા કને અર તું જાપરો વાહ તને હોદ ના જીતે મને ટે ગલુમ જઈ તું ધક જાય વાહ અર નીજર તને માર દે ઠીક હે और तो चोरी क्यों हुई की हुई कोनी लाल बूंद योड़ो हो और खा बाबरी छोटी पकड़ खा दिन मात उतार मत बात ओ वाह और जोड़े में गाल और आगला सो पापड़ा लाल सो ठेका दे कई बाप ने मारी दिन उगो वाह और लालू पड़ गया वाह देख चांद करे तो बाप मुझे दी पड़ी है और ईटा नहीं है ओहो लेन करे हार आज भी देन करे है देश रे आ ने मैं के दिया तो तो बैठे चार ईटा ही मारी ऐसा कौन વાહ મારે રાજરે માય ઓર ઉરમજદની માર કોઈ ઈંટા લઈ ગયો મને બકારન ગયો હે બકારન વાહ पहली पौड़ में जाने के तुम यहाँ पर देता हो क्या सा चूहे के धोखा का नजरे नहीं देखे सब जगह बूझो को चूहे पगी नहीं मुड़िया मिलियो ही नहीं सामान तो कोई आज बढ़ियो ही नहीं बात भले चूहे पर आ गई बसिया मन में विचार करे अरे चूहा हो कटू वाह सुबह भी वाह चार बजी और कहने के फौजन का हाँ हो दो चुएल तो, तो फटोला फुलाना घोड़ है हेड हर दबिया हड़ दबड़ का दबड़ का दबड़ का घोड़ा बे किले दो दिबड़ा दिबड़ा जा रहा कहने के फिरे तो आगे वो डो करो भीतरे कनु वाह और खास खास कपड़ा लोग खड़ा खड़ा खड़ा बालाड़ो भालाड़ो बाटाड़ो बाटाड़ो होटाड़ो कोट डोकर सुनो करना वाह ले जा डोकरे ने और बादशाह के ये लो बादशाह देखे हाँ चूहा तो है भाई वाह ये चूहे का सिर कहाँ है क्या सतार खाने दीजिए से सिर उड़ गया हाँ, हाँ। बड़ी ताक से दी भाई उड़िया तो आको तो गियो आको में पड़ी हुई खोद ना हो खड़क जोर हूँ भाई कानी कानी फिरिया वाह जान करता पेट मत तो हो ही वाह के सही सा माँ माथे की कोई किरची किरची होगी जो बिखर गई बिखर गई ला देखो अच्छा ये कोई सतार का बाने वाला बड़ा गजब था बात आगे मंगाते हो सही बात कोई सिर का है के बाप जी गुना माफ करो मत मत देखी कोनी हाथी बात को देखी कोनी वाह हां क्या बात कह इसका मतलब जन्म मत तो होई नहीं है हाँ। के जन्म नहीं बाप जी मैं देख के भी इंटे बेच गलो हजी हूं वाह मत तो नहीं हो बोला बीबल बीरबल ये चूहा चोरी करने वाला और सिर इसका कहा गया वाह तो कह मिल करो कोई मोल नहीं में नरी पिंड मोल नहीं में कह मिनखरी कोई खोपरी कोई पार नहीं है बीरबल ने आज पूछी बीरबल कन्न नहीं क्यों क्या एक दृष्टांग याद आएगी हो वाह चार जिनौर बोलिया वाह चार जिनौर बोलिया बिन टाइम में एक तो कहो कि आदमी दिमाग खेल हो दिमाग खड़ो बिया करे एक जने और बोलियो पिया ने पिया ने पिया ने पिया पिया एक बोलियो किया ने किया ने किया ने किया किया एक बोलियो दिया ने दिया ने दिया ने दिया दिया एक लिया ने लिया ने लिया ने लिया लिया अकबर बादशाह ने सदमो रहते जानवर बोलियो जानवर तीन चार बोली बोली मालूम मालूम नहीं पड़ी वाह वाह तो कभी कभी गंग भी जगह मौजूद नहीं है वाह कभी गंग ने बोला गंग या तो चार जानवर बोले वाह अब देखो दिमाग खड़ा आदमी हाँ, सही बात क्या बाबू जी किकर बोलिया चार जिलों में किकर बोलिया एक तो बोलियो किया ने किया ने किया ने दिया ने दिया ने दिया लिया ने लिया ने लिया वाह मैंने मालूम नहीं कई चीज कही के लिया के किया पिंटे में कभी गंग कहे वाह नहीं देखी बात कहे सुनी तो बोली है बादशाह हाँ। और अब उतर दे रिया है गंग क्या जाने जे क्या गंगा का नीर सतंग मिले तब तो कूप का नीर पिया ने पिया हो बादशाह वजना वजन बोलियो गंगा का नीर सतंग मिले तब तो कूप का नीर पिया ने पिया जिन दे भगवान बसे कोई औरा का नाम लिया ने लिया, लिया। हाँ। वाह नहीं संजोग सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, दिया न दिया कवि गंग कहे सा नीच से नेह किया न किया हाँ, हाँ, चलो जिनवर इन बोलिया वाह जी तो बिना देख न्याय करता पहले वाह बस पूछे है बीरबल ने हे बीरबल ओ चोर है कि नहीं है ओ चोर नहीं चोर इनके साथ था वाह ओ चोर नहीं है चोरी करने वाला दूसरा सिर काट के ले गया बीरबल क्या कह रहा मैं सच कह रहा हूं तो बीरबल ऐसा होशियार है वाह तो इनका साथी होगा कि नहीं साथी नहीं इसका पुत्र है वाह जन को कन्ने वो ठाई कहीं पड़ी हो इसका पुत्र है वाह वाह बादशाह चुमो करे है हे बीरबल हाँ। तने इतनी माली तो તો ને બહુ बेटो હોય हाँ इन बोटो वाह तो વીણ चोर ने पकड़नो वाह क्यों बहुत चोर लाख दर्जे नहीं पकड़ा चार उपाय मारे कल है भी चार उपाय में पकड़ी तो पकड़ी जाने नहीं नहीं कोई नहीं वाह क्या बोल क्या बाप रो बेटो है वो वाह असली औलाद खून पड़ा खल खत खता बेवे बादो बाद रोड लुलातर राजिया राजिया बेवे बादो बाद असल बेटो है तो बाप रो वो इन बाप ने ओ माथो और आधड़ नर नहीं रहन देला वाह तो कहीं करो इन लास्ट ले जाओ बिन टाइम में मत भेड़ो नहीं रहने देना कोई आदमी नहीं गया वाह मत तो करने भेड़ो आवेला बिन टाइम पकड़ लीजिए वाह बोला कानी कर संतरिया जाओ भाई आ लास्ट जलाउन वास्ते जाओ हो वाह चिड़ी ने जाइए पग नहीं दे सके जे मत तो देख देख पकड़ जे कर दे मार के लिए के हुक्म मम्मे तो मैं है हटा एलान दे दिया तो रात या ठा नहीं पर दिन वाह हमें एक नहीं आ सकता लास्ट लेन भी होगा राम राम सत्य है आगे गिया गत है राम राम सत्य है आगे गिया गते बद गति कर को गर्म हगले वाह लेगा घरे रवाना हुआ मसाला में जाए और वे रति चुनी है वाह बिन टाइम में मोतीलाल ठगरा बिरादरी वाला समाज वाला बोलिया ए मोतीलाल वाह ક્યાંક ભાઈજલો શેણની ભાઈજલો દુશ્મની વાહ એ તો પહેલી ઈંટા હોનેરી ઓ મોજ કરી ઢોગોળ ખડકોળો કરી મેલા દઈ નહીં વાહ એડી ઉપાય કરી કે થારે બાપરો માતો ભેળો નહીં કરે તો ટાબરે માં ટાબર ન્યાત બારે વાહ ગુડા માં ગુડા ન્યાત બારે બકરી માં બકરી ન્યાત બારે લુગા માં લુગા ન્યાત બારે ઘર તો હઈ ઓ ઘર કરી ઘરે નહીં આશ વાહ નહીં તો થારે બાપરો માતો જાન ભેળો કર વાહ એ કે બેટા બાપા કરો તો ઘણા ઘણી ઘણા ઘણી મોટા ઘણા લાગોડી અને મોટી તારા મોટા સંજરકા એક તો બાપને માર્યો એક ભલે મને મરાવો તો હું ન્યાત બારે બાર બસ મોતીલાલ બોલ્યો કોઈ વાત નહીં સર માને કહે માં માં તો વેળો કરવો પડી ન્યાત વેળા જીમાવો કોની બેટા અમે છકે બગ્યું રહે કે માં મરણો એક વાર મરણે શું ડરશો ડરશો જીવનો હોય તીર્ખાર મૃગા પેલી સિંગ મરે વાહ મરણો લરણો નહીં પણ અમે જણો જ પડી જણો પાંચ કિલો લાય આટો ઓળ પડો લોદો બણા એક और सीधो कर हटे ने बाप रो माँ तो बीचे घाल दी बीचे घाल और प्लेट दियो आठ पूरो प्लेट ओ बाटो बना बैठ छः किला बाटो बना और भगवा बेस फिर हाथ में ले चीपटो और मोटी जोड़ी कर परी और नकली जटा लगा परी आकर था तो નિત્યને સોળો ફેરને વાસ્તે સબરા મંદિરમાંથી મુસાણ અબદૂત વાગ્યો अब હોગો આ બોટો નીકળે હાય नंगरी बड़ी आराम है नंगरी बड़ी काफिर है आवाज हुई भला भला आदमी हत्या लोग बालन गया के वेलियो साधु है और बिरंगी बाणी बोले फिर कहीं पूछो तक तो के दुख है अरे के महाराज क्या हाँ भैया क्या है आप बिरंगी बाणी बोलो आपने दुख तो कही कहीं दुख है कह दुख कहीं भाई सात हाँ। रोज विवाह है भूखा मरा अंजल नहीं मिली अंजल नहीं मिली और इतना ये शहर है कोई काम ही नहीं मारो मारो कोई बाटियो ही नहीं मिले बाटियो ही नहीं मिले क्या बाबूजी है कहीं मैं मरू भूखा क्या बाबूजी मारा घर आलो रोटिया जीमो आप शादी वन जी मामा कह नहीं मैं हूँ बेटा मुसानिया जोगी मुसान में बाटो है क्या बिना माने बावे नहीं वाह मारी भक्ति खंडन हो जाए वाह वाह मुसान में बाटो ठीक है बोल बोले कला सिंह जी पाड़ सिंह जी परवत सिंह जी क्या साधु भूपा बापड़ो और घरा जा आओ तो आपड़ो कहीं बिगड़ा मुसान गुजारो है बापड़े हेकन तो कोई बात कह रही है गो क्या भैया न्याल कर दो क्या बाबा बेल दो बाटी तो भट बाटो काट और मूसा ने बीच जगते रे माँ में मन में कह पिताजी ओ मुँह खातर पाजो माँ तो भेड़ो कर दियो माँ में दोष नहीं <laughs> वाह अब मारो कोई दोष कोई दोष नहीं है हाथों में बाटो हाथों में बाटो मेल फल <laughs> बाटो और फट देने डो कह यूं करो भाई साहब जी आप विराजे वट हैं अरे उबा हो मैं थोड़ा पानी ले वाह नंदी माँ जाऊँ જરીમું પાણી લ્યો જગભર લ્યો ખબર પડલો વાહ ઓલો નીકળ્યો જો ધકે જાતો તો લે પરી થોડો કર ભેળો કોકડી ઉધી વાહ ગેજી રે આતું ગોણા દિયા ઇની આતું વાહ ક્યા અરે દે ઝુંપડીયા ના ઠીક હે ભયા રામ રામ તો આ તો ઠલો બોલ પહાઈ ગયો हमें क्या दिन भाई दिन दिन मैं तो खेल बेलो दिन भाई रे भगवान तेरे कुछ रख बल दिलाऊं आगे मन में क्या कुछ तो गुण रखता पर मारे भगवान बेलियो जब जान बे वाह पाचा मना जाए कोई नहीं अकना खिंगदी पाड़ हिंगदी परमेश सिंह सुशांत सिंह जी बारे में बात करे तो लोग बात बढ़ जाए अपन और बदे साधु है बात हमारा तो पर बा गेट की ले परी बाटी ने ऊंधो कोरियो मो दांत काट दिया કે ઓલો કરમ તો ફૂટગું અરે ઓ તો માતા ડોગરો અમે મુલા માંગણ્યા ગાલે આ ખડી जुल्म कर दिया हमें मुंह लोग कटे बताओ बारिश अपन मत पाट ली मत जाओ पड़े मत बात अपन तो रखे इत तो आदमी है तीन का दे बात मत तो फिर को वाह कौन तो फूट को नहीं ठीक है बॉबी रावे देखे बॉबी रावे देखे हमारा मुंह लोग नहीं बैठो पाए <laughs> क्या बात अब क्या कर लो कह रही हमार लो पाचा गया बाप जब तो दूध में जोड़ ए जाएंगे हाथ जोड़ में जाएंगे ठीक है बस यहाँ कहें तुम्हारा मुंह कैसे उतरा है क्या बाप उतार अरे भैया क्या हुआ जवाब ही नहीं लकड़ी नहीं आती लकड़ी तो हगड़ ठोको मरेंगे जला तो दियो क्या हुआ हाँ। बाबूजी मा तू बेड़ो को अरे ठला बुला थे के वांदा के बाबूजी हैंग यांदा जगे म गटो को वाह दिन रे मने राती दो दिन ने मेरी मात पिता ने बाबूजी मारे लोग ने छुड़ाई दी वाह सिर करका बेड़ा हाँ। कोई बात नहीं भाई बोला वीर ने बीरबल वो तो मा तो बेड़ो करबो के बाबूजी मने ठाई अरे काम कर लो वो कोई हाथ आवे हाथ आवे बीरबल चाहे लाख बात हो पर चोर ने पकड़ लो वाह खे बाबू जी पकड़ लो तो उपाय बड़े है वाह तुझे पकड़ने का उपाय नहीं है आप बीड़ो फेरो वाह पहले क्या पुराना जमाना ढाई लाख रुपये बीड़ो फेरता वाह कोई बीड़ो झेल झेलना है पकड़ना हो बीड़ो फेरो सवार माँ बिन टेम में गिन का वाह पात्र बाम वाह खे आप हुक्म है तो मैं पकड़ू वाह आपने हुक्म है मैं पकड़ लूं वाह क्या गिन का और थारा जो मकान है क्या चार इंटर बार बार कौन ध्यान कर लीजिए वाह नहीं आते है तो लीला मिला मकान वाह जा तो वो तीन ईट ले एक लारे ही के बाप जी करो तीन ईटा वो ले को ला लो नमूना मन दो ठीक है इन नमूना पर तीन ईटा लाऊं जर तो मन मान जो इन्हें बोले शहर में निकाल दो हां थी फिर बेली हां शहर में निकाल दो बोले हाँ ठीक है जब बीड़ो झेल लियो फट उठ सब निकल गई गई घरे कहने कहने हमसार में लिया क्या बादशाह लाल किले में चोरी करने गयो है वाह तो एक दिन गिनकर मैं लाभ दो वाह मनु कहने कहने आवाज आ गई मोतीलाल ठाकुर माँ गिनका हमसार में लिया वो अटे आवे क्या बेटा हम पकड़ी नहीं रही गई हमारे बकार पकड़ी बात वाह क्या हम पकड़ी जी एक तो भी न करे जा વાહ कह बेटा हाथ मत आ जाएगा माँ थारा दूध चुंगड़ो लजम को રજાઉ કોઈ क्या भरोसा है बेटा वाह। पर चक्की पकी रह जी રજા खैर तो का चक्की के बाहर है हूं बाटो तो વાહ टा कोट पैर पड़ो हाथ में बैग ले लिए उन्होंने पकड़ के पैरने और मटिया पहुंचियो और तो અરે જાય रियो વાહ अड़ी रात ही दस हट द शेख भजी वाह बेटा बेटा बेटा बेटा एक लाई को तेली को रिया मुझे बोल दो तेली ठीक है तेली दो तो कौन आई तेली हो जगह हाथ रे यो नर नर आ बीमारी नड़ बड़ी गजब है गजब होया कर कई दिन हवल नहीं मेरे नेड़ो रात रे नींद आवे ए वो भाई बहु करे बजरो फिर अरे मारो हाथ दिखे रे अरे रामड़ा अरे रामड़ा या खुदा अरे क्यों कर रहे हूं मर जाऊं मुजराल बोली कहीं बता हाथ गणो दुख खंड तो कने बुला ने अंदर ले जा जेल वो आगे तो वो के मत काट दे काट पर बहुत बोले तो दे बोले वाह आगे कटे खालियो पानी जा हाथ ने पूरा वाह खून खून में धोई लियो धोई बगल में गाल पड़ो कल फूटा भी रोवे थे तो। वो तो हाथ दे ना प्रमाण ला बड़े नु बड़ो होशियार हाथ कने लियो यार गिनकर में जावे वाह जान गिनकर वालों खुलो गिनका अंदर है कोई अंदर है कोई मां बोले कौन है अरे है कोई कौन है मोतीलाल मोतीलाल वाह खब छम छम छम छम छम छम करती भरा है वाह हेलो खोली तुम मोतीलाल मैं मोतीलाल है आपके पास वो काम किया हो कि कहीं कपड़ी क्या तैयार है कहीं से तीन ईंटा हाँ, पजे में खा हलो चलो आगे बे लोग लाल लाल ताड़ लगा तकले बेर ने बजावे लाल बड़ा ताड़ लगा मोतीलाल माई जावे मोतीलाल माई जावे बड़ा लाल ताड़ो चार ताड़ लगा वाह क्या चोर को भगवान साथी ब्याह करे पिण कोई मां जा मकान दे कि हो कोई ने मौका है तो के वाह और रामपुर से मां पुरी आगे क्या चालू इटा मेल दी कने कने मेल दी इनका बेटी है मोतीलाल वाह तुमने बड़ा कमाल किया क्या भगवान किया मैं कमाल नहीं किया मैं तो कहीं को नहीं किया धन्यवाद है तुम वास्ते में तेरे से तो कोई है ही क्या हमारो काम खानदानी काम है हमारो पारंपरिक अनादि आ कोई नई बात कोई आप कुछ नशा नशा करते हो कर, अलो काम करो नशा तो करें कि पया घणे आवे पया घणे आवे अरु तो मार अरु पीते हो के थोड़ो घणो पी आवे है है थोड़ो घणो पर माऊ बोतल मंगे काट बिरंडी वो काड़ा दे बिरंगी बिरंडी हां मंगाई ला लो मोती ला कि आप ही पूरो बट किन कर ले लो मोती ला वाह एक पहलो पियो हल्दी लो मोतीलाल एक पहलो पी बस आप ही पियो इनका देखिए हूँ नहीं पीऊँ तो नहीं पियो देखिए झाड़ है अब गिनका गिनका नशा हूँ टुको सीधा होते ले पर कुर्ते में ढोल दे वाह वाह बिना पाप होकर आप कुर्ते में ढोल दो बिना पाप होकर यूं करता गिनका तो हाँ भी जय राम जी मोतीलाल मोतीलाल क्या हाँ आप बैठा हो हाँ साहब हम बैठो पर मैं थोड़ा मगर टट्टी जा હવે માં કોડરી ખડી લાગોડી मार सिमट की ओरी वो टटी कट जा नहीं नहीं यहाँ टटी जाने का रास्ता नहीं हम तो दौड़ दौड़ी पीड़ी खूब यहाँ कोई नहीं जाए यहाँ नहीं है हाँ। तो टटी तो मन जानो पड़ी तो ये टटी में जाओ अगर एक बात है हाँ। तेरा हाथ है और कोई डोरी से बंद पकड़ा तो मुझे क्या जरूर आप बात धन मन भागन लो डर दिए नहीं पर हाथ पकड़ लो हाँ। रस्सी आप करे हाँ ये पड़ी और न बांध पर जिला दियो और जार में एक डोरी बड़ बांध हम कोटी ने बांध आप हाँ फिरी हो कोटी ने बांध बांध कोटी ने जार में थोड़ी जगह ऊपर ही कहीं तो फट देने चढ़ ऊंचो टटी ने ऊपर हूँ नीचे कोई शेर सबकार मकान पतरा जिसके बाद खैर धाम दिन कूद ले बाइट बाई ले बड़े तीन बेन बा छोटी ले वाह हिड़ी हिड़ी हिड़ी हिड़ी गला गड़ा बोले सोर सोर पतरा मत चार पांच मरा दीजिए हका क्यों करे थड़ की चोरी तो है कौन हका मत करो देन ठेका देखो वाह आ बेटी आज दिन अच्छा होगा कि मैं इनाम पाऊंगा सोर को पकड़ लिया अभी नहीं जा सकता हाथ तो झालड़ो है अब बोले मोतीलाल अब आजा टाइम हो रही है अब पहले तो बोले मुन्ने मोतीलाल अब आजा टाइम हो रही है मोतीलाल अब आजा टाइम हो रही है फिर वही सही ಬಂದ್ರು ಅತೈ ನೀ ಸಲ ಇವನು ಜೋರು ಖಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ ಪಡಿಯೋ ಅದು ಹುಗಳು ಆಯ್ ಪಡಿಯೋ ಮಾತು ದೋಡು ಚಕರ್ ಹಾಕು ಜೋರು ಲಗಿದೆ ಆಗ ಠರ್ಗಿ ಆಗ ಠರ್ಗಿ ಹೆಸಿಟಿ ಅದು ಒಂದು ಸಾಲ ಸಾ ಕೈ ರಕರ್ನೆ ಗಿ ಆಟ ಹಿಡಿದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ ಏಕೆ ಯಾವ वो ईट भी ले गया गी गी थबुगड़ी लेन गी लेन करे हाराज भी देन करे हादेश दोनों घुमे से भूप ना मुदरा दे आदेश वाह करतार तो इनाम में हा एरो गर्जा हगड़ो वाह हमें रात रा नींद की ने आवे दो दो बजे काम हो वाह हैंग रात बैठी दिनों को होले होले टमक टमक टमक टमक बादशाह મોલો ઉતરી ઓલો किनका वो चोर कहा तू आ गई कह चोर पकड़ लगो बाबू जी पकड़ लियो चोर बस कहीं होगा भाई इट भाई ले गो अरे थाली बोली वाह मारे बड़े आदमी निशानी ही भाई कमाई थे वाह डाडी ढोलरे ढोल में पुराना फटो कोई को बेचे तो हमारी हिट एक तो रखी एक तो रखी भाई बड़े रे भाई लेके बेटे वाह लालू बंदोड़ देगी अब थारे मकान बिके ला बावे के करो तो हवल दे हो और कौन दोगी कोई बात नहीं जाओ जाओ शूट कर दी मकान का नीलाम कर दो हाँ ठीक है अब जाओ वाह अब ला रहा साहब मानो गुस्सा वाह कि ऐसा कौन चोर इसमें चला के कर गया आपका हुक्म है छुट्टी दो तो मैं पकड़ू भी नहीं मैं पकड़ू मन में हकम में चार आंख भी करे कहले पकड़ लिया हां हां सी बात है पढ़ा लिखा रे चार पढ़ा लिखा चार आंख है पकड़ लिया और आपने सा हुक्म क्यों एक हुक्म मैंने खोड़ो रहो खोड़ो कहीं पहली पुराना जमाने में होता तो चोर निकले तो मैं पगा जाता खोड़ो मतलब आप खोड़ो खोड़ो लकड़ी रो तो हां ठीक ठीक जो બેન ને રાગે માં ભરતો આદમી બેન લાગે મિનિટ રહેતો માં ભરતો ગવો પગમાં આવી જતો બા ખીલીમાં ઠોક દે મરજા તો બહાર નહીં નીકળે પગરે માં હા છોડ પકડ લે તો ખોડો લે આપણે બારીક મકાન બગીચો હે બગીચે માં લઈ જા આપણો મકાન મકાન રાગે वो બેન ને રાગે वो ખોડો રોક દિયો અરે જો કે યાર પકડે ખોડે હા આવો ખોડો જો खिरगोन पकड़ फांसी जियो फांसी बेला कर पहले पुराना जब देखे के नहीं दिखे कोई कोने दिखे नहीं हां हां इन्हें हम जार किया क्या गिनका में चला के कर गयो अब चो एक दिन मारे मान मिले मारे के नाल नताई करन जावे तो करे बात माने ने मां वाह हकम साहब बाटा उड़ी के पलक नहीं आवड़े हरिदस ने बिन मोर वाह था मैंने मेरा सावरा जीवनो किन में तो याद करे मने आयो थोड़ा કે બેટા છકે બકીને જમે કે માં હું ગોરી કે પીળી રોગ લાલી સુડન વાહ પીળી રોગ ઓજા જે ગોરો વેતો હટ આપણે તો એક લુગાઈ નો બેસ વાહ કાલ મઉ આછે માછો સોળા શ્રંગારીને કિયા ફૂટો તો હોય વાહ એ ભણ ઉભો રહ્યો કાચ માં દેખ્યો માં દેખી જો માં કહે ना आकाश उपनि ना उपनि पियाल पियाल नहीं नी ओ लय ओ सांस भर निपजी चंपा डाल डाल ना आकाश उपनि ना उपनि पियाल सुओ लायो सांस भर निपजी चंपा डाल डाल निपजी चंपा डाल इंद्री अब सरी बोले सुना बैन बागा पिछ कोई लीद खंडा तो प्रखंडा नार एड़ी नहीं ओइली ओइली इने मुकाबले लुगाई बनी वाह मां क्या थू थू बेटा लुगाई रो तो फाटो तो तू ले पर एक थाली और निकल जाओ खोटो घणो करने वास्ते है वाह और अड़झम अड़झम अड़झम दी जावे आगम साहब कने जावे जा पर बगीचे में बढ़ और वहाँ फूल तोड़े है एक फूल लेवे एक फूल तोड़े और माय हकम साहब हम चांदनी चढ़ रहा थी वाह और बगीचे में बैठे हकम मन में देखो रात रट समय बोधनी है पलितनी है, है लागन है सही है है कुण है कुण बतलाओ तो फिर आप आई वाह जावे और जा कने खवा गणी वाह दयालु आप जड़ जोगणिया हो आप कोई अवतार हो आप कोई चावना हो हाँ, हाँ। आप मारे पदाई बड़ी ओमा दी आओ बोले भाई आओ बोले हां आओ बोले मान का दे भाषण थारी भाषा आवे आप सुनो अपसरी वाह साधनी आई छजनी फूल गई भगवान ने करे मैं लाल इकट्ठा कर बाबू जी आवे जी ते गरीब रोई झोपड़ी देख लो संभाल जो नहीं थोड़ा देख लो वाह क्या भाई आप करे मुझे क्योंकि बस मान को देख मर्द लोग रो के वाह तू मर्द लोग रो क्या मैं आगो कबे हूं आप लड़ लड़ हाँ, हाँ। जावे जा कम बढ़ते हैं क्या भाई ओ कहीं खिवाओ जो खोड़ो क्यों धाजो इन खोड़ो कटे के नहीं ओ खोड़े नहीं वाह इनो कहीं करे बिरा तू के इनमें चोर ने पकड़िया करा चोर ने किकर पकड़े और लारे दौड़े हाँ। वाह के नहीं लारे नहीं दौड़े हाँ। जरा चोर ने किकर पकड़े भाई तू बता क्या भाव चोर ने इनमें चोर पग बढ़ जाए वाह गगन ले बेगन ले अरे नहीं आप कटे गलो बाप जी पकड़ खोमा ने आप कटे गलो बाप जी आप मस्त ऊपर खराब हो जाए तो हाँ।, हाँ। तो हूँ गालू लो लो अरे तू गाल आप गाल दे वाह पग मार मेल लो हमें नु कहे करे पग जेल बार काट दी और थार पग निकल गई खनी बाप जी को आप आड़ खिली पड़ी है आए में ठोकी जा करे के ठोके लो मैं गलू मार आप लो थोड़ो O, to lukalo. इन काय कर आप इनमें दो ठोको बोले ठोकन पच कार ली मोदी लाल निकल की नहीं के बाप जी नहीं दोनों हाथों ठोका जरा हैंग मार दिया पच वाली निकले पच को निकले इन तो वे खूना तड़े मोदी लाल फड़ ठोकी हैंग खिली मार के वाह कार जूद रकम सारा फड़ फड़ चोर पकड़ लिया है चोर पकड़ लिया है चोर पकड़ लिया और तो दो तीन सूद दिन ना को लारे पुलिस वाला बैठा कि चोर पकड़ लिया आ, हाँ, हाँ, क्या बात कि जैसे मेरे हुए भेड़ो को पकड़ हुई हाँ। है अभी ठोको ये हमें सुनको ही क्यों मैं वाह वाह कर कर ना यार दिस दिन का भेड़ा भेड़ा डुकर डुकर जूत जूत पटिया पकड़ लिया वाह तो दा चोरांगो बालू तो भी हुई भाई ठोक ठोक होट कर दी मिर्ची बढ़ाई अब कह अरे मैं तो हाकम हूँ हाँ तू हाकम अरे हवल देखो तो सही मैं हाकम हूँ गणरी हाकमा ही करी थे गणा में चोट करी थे अरे चांदनो तो करो रे चांदनो आप ही उजी गए तो कह कर मैं चकमक की पुराने जमाने चकमक करी देखे हाँ हाकम साहब हाकम में देखे लकड़े पास गिरे हुकुम साहब आप क्या भाई थान तो ಸಂದೋರ್ ಕೊಡ್ಬೀರರಿ ಅರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಗುಂಬಜ ಕಿರೋ ಪಜಾಗೋ ಹಮೇಟೆ वाह अब जरा आई गेंद्री आ खिल्ली काट बारे पकड़ जो लाल तुम खिल्ली काटी बारे कसा मो गलती माफ कर दो मां तने आपरे लागी के भाई छो छो लागी करमारी बाजी है वो कुटी जो नबे में दूध दिया तो आ बड़ा कुटी हैंग रहा वाह अरे बगा दिनो गो की वो मुड़ी जो बापड़े मुड़ी जी वो डोबा जाकर साहब गया वाह मुला हुजूर हो क्या हुजूरी कुजूर हो आकम साहब बेवाला तो देखियो अरे तुम साथ वाला मारा के बाबूजी मैं तो नहीं मारिया मेरा हक हुने मारो हक हक होयो हक हो मारो हक ठोकर लो ठीक है चोर पकड़ के ठोकाई मानो कहे तो साहब आते के साहब आ कहे वालती हुई के बाबूजी इंद्री अब चराई अंधेरी रात अब चराई जो मैंने उठा के पता ही नहीं लागो कोई बात नहीं इससे हम कब्जे में आने वाली बीरबल अब कोई उपाय है वाह एक आखिरी उपाय है बाप जी बिन उपाय में आवे पकड़ो तो पकड़ावे लाख बात नहीं पकड़ा बीरबल जी की शाना आगे अच्छा लाख बात नहीं पकड़ा एक बात है अब मेरी नती रे माँ एक ब्याह करे गंगा जी गलने वाली बात है ठीक है आप यूं करो वो मुसान है भी बश्मीर माता तो जाति बिछवाए दो और आप उठे फौरन लगवाए वाह बस में कोई नहीं ले जा सके अब बस में लगा ले जा वाला वो जोर है वाह ए आदमी ने आवते हैं ऊपर हाथ आदमी आवते पकड़ नहीं तो नहीं पकड़ यो तो हुकुम दी ओटी ने जजम ना करना बात है बसमी रे अरे ने वाले मालूम पड़ी भाई ने हमने आटो पकड़ी दिन है वाह हमने पकड़ा है भाई क्या कोई चिड़ी जाए जा नहीं सके क्या भाई मोतीलाल एक बात है आखिरी बात है बड़ेरा नाद करता आया है अरे बड़ेरे गंगा जी बड़ेरे गले हा और हाँ। तू तो गंगा जी नहीं गले तो भाई रे मार मार तू नहीं मिल बस हाथ पट्टी में तेरे में नाद बार का माँ ने कहा माँ हमके एक बड़ी गजब घाटी है इन घाटी में क्या तो पकड़ी जाओ क्या छूट जाओ क्या भया यूं करो पांच सारा छोरा है बे मन दो मन हाथ ले जाओ क्या भाई छोरा बोले हाँ, कुल का भाई होती है સાથે રહો ચાર છોરા લઈ જા અને છોરિયા ભણાવી છોરિયા ભણા આ આપણી મોટી લુગાઈ બળ ભરો ખોટા પહેર્યા ગેણા વાહ लालटेन कने और लाला सोरिया भाई आगा मोतीलाल भाई रात रसम भाई खोटो गण बजा अड़ झाम अड़ झाम वाह झाम अड़ क्या बात क्षमा क्षम करता भाई वाह उठे मां अवसर रहा वाह वाह विचार किया रात्रि समय और इतो गणरी आवाज झणकार और तो कौन है दो चार दिन हलो रे नंदी नंदी जावे कने कांटे कह तो कोई देवी है दर्शन होगा अपना भाग हकरा वाह नव दुर्गा कहने को मिली है नव दुर्गा कह दो तो नवी है वाह हाँ गणी आओ भाई जीता रहो आशीष दे आप हुकुम रात्रि समय खेद को ठा को नहीं नहीं जल जोगनी हाँ नहीं देवी हाँ नहीं कोई बया सा हाँ मारे बात आ है मैं ही आठ बहना बस शरीर रमजा दिया हमें एक तो आठ बड़ी पड़ी है एक तो आठ गोर तकलीफ आ रही एक वो थे बैठा हो गए फंठाई है कटा जाजिम लियोड़ी ये ठहले बोले मारी बहन ने मारी मुठो बस यार चित्त क्या मेरा कोई नहीं चाहिए जाओ सब जाओ सब जाओ मान ले दिनरा में जाने से सका हमारा पर्दा है मेरी हाथी मारी रात रात पीट जा वाह ये अफसर बोलियो विचार किया गजब हो जाए ये ने मनाए लो भार पता ले जाऊं उठे कटे बस यार हाजिर कर दिया भाव जी जा तक मेल आया अपने इनाम मिले तो ये अपन अब तुम ले गुस्से में है जो बुआ जाए खमा મારે પર મહેરબાની કરો આપ હા તો થોડી દૂર મારે ઉઠ પધારજો તમુ મજરાલભાઈ સોર્યા કે હા હાલો આપણે તમુ કે દુજારો હાલો આપણો આપણો જ હાલો અચ્છા હાલો તમુ બે ઘડી દો ઘડી બી છોરા તમુ ડોલા જેલ બે કે છોરા કા પાક મતે વાહ अब अवसर ने कहे क्या थानेदार साहब जी हाँ आपका छोपड़ भाषा है क्या हो हुकुम का, का मोटा पतला ने बस गरीब आदमी खुद डूब जाए वाह हाँ, खमा तैयार बट लाए चोपड़ क्या मानो चोपड़ क्या हमने भेड़ो कोण आप ही रमो कहाँ को हम रमो तो कोडिया ले लिया हाथ रे मां पासा कोबरा सत्रह लाख अठारह पर पासा पासा नाग बकरी वाह एवं करता करता करता करता करता करता करता करता तीन एक भजन डूबे हम तरह मोतीलाल मन में देखो अपन केरा पास हाँ। रमना बाप री भस्मी है जी मेरे एक पलियो बीजे और पहाड़ दरिया इन पलियो बीजे और मेरे माथे मुसान माथे इन तो भर देनी वो एक पासो नागियो इन हाथ गाले खोटो परनो हार मां अंगुलो गाल पर पासा फोबरा वो हार है बिकर और फटर कुर्तो पकड़ियो थानदार शर्मावर्तन मारे हार में हाथ तू गाल हाथ तोड़ दियो हैड हैड वाह हुकुम हुकुम गलती करना हार मार की गाली कूड़ चुप बचा चुप जुल्म बना दियो हां जुल्म बना दियो पर का चुगे है चुप जा तो वो आप वो कन उनको जो हो गया कोई रुमाल वो बात वो को खेल आओ फेंक दियो कहे मोती खोटा खोटा है मुसान में पड़गा पड़गा पड़ गया और ओट कहीं अरे के बाद जो तो आपने बहन ने मारी थी वो सोल मुसान अरे ठना बुला खराब कर दिया हैंग हैंग ना सको मोती चुग गया वाह थोड़ा चुग गया अरे हैंग मशीन बांध दी मुकाट में उठाल पानी में धोआ वाह वाह क्या बात हैंग वाला ना सोगा हम लाल लगा है चला चला जनता क्यों नहीं भेड़ी वाह